भगवान सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे थे ब्राह्मण को देखा तो सिंहासन से नीचे उतरे अपने आसन पर उनको देखा और उनकी पूजा बदल कराया जब सैया पर विश्राम कर रहे तो भगवान उनके चरण बार में और बोले ब्राह्मण देवता संतुष्ट मनस्ते आपका चित्त प्रसन्न है संतुष्ट तो है तुम्हें अपने धर्म के पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं है ब्राह्मण से नहीं पूछना चाहिए संध्या के की सड़क हो जाएगा आपका शरीर स्वस्थ है भगवान ब्राह्मण से ऐसे ही पूछना चाहिए भगवान को अगर ब्राह्मण संतुष्ट है तो उसका धर्म कोई दर्श लेकर के दिखाई दी बोला आपकी आज्ञा हो जैसे पहुंच के सुनाया सुनाओ तुम्हें ये बात है बोले ये तुम नहीं लिख रही क्या वेश कृष्ण नारायण जी के द्वारा मैंने आपका धन सेवन कर आपको स्वरूप का सेवन कर मैंने अपने आप को आपके सेवन में अर्पण कर श्री प्रसन्न का निर्देशबिंद कुल शिक्षा शिलाग्न पुंजन कपिल ऐसी कौन करना होगी जो आपका वर्ण करना नहीं चाहते इसलिए माया भगवान मन से मैं आपका वर्ण कर चुकी हूँ मैंने अपना शरीर आपके चरणों में अर्पित कर दिया यहाँ आकर के मेरा आप पानी ग्रहण करें भगवान बोले विचार कर रहे तो ब्राह्मण हम हम भी रात इस विचार में हैं हमें है कि मिल जो उसका है उसने हमारे है के साथ विवाह तो हमारा दोष ही है ये हम जानते हैं तो इसीलिए हम संग्राम और सबको परास्त करके उन्हें बुलाए अब ब्राह्मण होगा आप बोलिए ऐसा कहते भगवान ने अपने साथ को आदेश दिए चारों को बुलाया अरे हमारा रथ तैयार करो शहीद जो सुग्रीव मेघ पुष्कर बड़ा चार घोड़े जिनमें जिसमें जुटते थे तो रथ एकदम तैयार वहाँ ब्राह्मण चिल्ला कुछ उस पाल को देने के लिए उन्होंने भी मुझे अपना सब कर्म कराए समपूज्य है और वहां से बरात लेकर के ससुराल को साथ लेकर के भीष्मक जो थे चंदन नाम चेन चेन करके दमघोष ससुराल के बेटा का नाम था दमघोष वो बरात लाए खंडन कर रहा है का सा स्वागत सत्कार किया कल्पकान ग्रहे मनुष्य हम अम्बू डेरा अम्बू अच्छे अच्छे सब सजाए हुए थे सब उनको श्री विष्णु जल्दी सा अगत करने वाले और उनके साथ बड़े बड़े जरासंध आदि राजा उसके सहायक हो सकता है श्री कृष्ण वहां आ गया रुक्मिणी का अपहरण कर तो फिर हम अच्छी तरह से वहां गए शिष्यपाल की ओर से बहुत सेना आई बहुत से राजा लोग आए बलदाव जी ने जब ये सुना तो श्री कृष्ण अकेले गए वहां गुरु का अपहरण करने के लिए तो फिर स्वयं शत्रुघ्न सेना लेकर के बलदाव जी पहुंची लोगों की दुकान देखा श्री कृष्ण जाए तो उनके ठहराने के लिए उनको अच्छा प्रबंध करना विवेकम पुष्प और उसमें अधिक हुआ है मेरी बात मुझे फर्क क्या इसमें आप तुम ब्राह्मण देवता आता हुआ सुधारी सदगुरु राय को पूर्ण दान प्रदर्श रुक्मिणी ने देखा इस ब्राह्मण का मुख्य प्रसन्न है काम बना करके लाया प्रवणम दृष्टा अप्रक्ष उसको प्रसन्न बदन दे करके रुक्मी ने पूछा ब्राह्मण देवता क्या खबर लाए अरे खबर नहीं लाए उसी को ले आए दुजा कृष्ण मागम रुक्मी यावेद बोले भगवान क्यों हमको उसी घर में बैठ गंगा श्री कृष्ण आ गए पंच आवेद पंच प्रशंस भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन किए थे सब उसको सुनाई दी भगवान की बड़ी प्रशंसा की अरे मेरे पैर दबाए ऐसा भोजन कराया और रुक्मिणी इतनी प्रसन्न हुई कि ब्राह्मण देवता को क्या दूंगी इस समय में जो चीज देखती है वो कम मालूम होती है रत्नों की ऊपर डालती है स्वर्ण से डालती है उसको उस ब्राह्मण को देने की लोग कुछ दिखाई नहीं दिया अंत में हाथ तोड़ दिए ब्राह्मण का भाग्य देकर लक्ष्मी प्रसन्न रही है तो आप ही समझते जय शंकर पश्यंती ननाम तो इसकी वजह से इसको क्या करें समझा मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है तो जो इस ब्राह्मण को इसके बदले दी और तो केवल प्रणाम करें जब लक्ष्मी जी इस बात को याद करती है कि उस ब्राह्मण ने हमारे पति की छाती में लात मारा और प्रवेश हो जब इस बात की याद करती है कि भगवान को हमसे मिलाया था तब ब्राह्मणों से प्रसन्न तो हो सर्वथा को विस्तृत हो रही लक्ष्मी और जब ये सुना कि बलिदाओं में श्री कृष्ण आए हैं और तो सतपुरवासी उनका दर्शन करने के लिए भीड़ लग गई भगवान विष्णुवाद के पास पहुंच जाता दर्शन तो वहां आया तो सारा काम करता हो स्त्री और बच्चे वहां जो है भगवान का दर्शन करने के लिए कृष्णम सत्ता आगत तन मुखम दीक्ष और वो असेव रुक्मिणी स्त्री अरे रुक्मिणी के लाभ भर तो ये ही है तस्या हाँ, आए नहीं पकड़ी अरे हम लोगों को तुम पूर्ण हो तो हम यही देखना चाहते हैं कि रुक्मणी का पानी ग्रहण यही करें सब प्रकार पूर्वात्म मन मन में ही कहने लगे और रुक्मणी भगवती का पूजन करने साथ से सहित हमने तुझे बारम्बार प्रणाम करती कृष्णों में प्रकट भूया भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने उसका आप अनुमोदन करो से भगवती की पूजा की और ब्राह्मण स्त्रियों ने भगवती के कंठ से माला उतार करके उसको प्रसाद में माला करना वो तो नहीं समझ है ब्राह्मण की स्त्रियों ने आशीर्वाद दिया रुक्मिणी ने ब्राह्मण ब्राह्मण की स्त्रियों को नमस्कार किया निर्माण ग्रहण करके मौन त्याग दिया और वो मंदिर से बाहर निकली तो उनको सपाना सखी एक अर्थात अपने सखी का पकड़ करके दूध में उन्होंने समर्थना तो रुक्मिणी नारायण का जो दर्शन किया एक चार दर्शन लोग के उनको देख करके देखिए जाओ रुक्मिणी जी वहां पूजा के लिए पहुंच गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ पास में जाकर खड़ा कर दिया और राजा लोगों को मालूम पड़ा है तो उसने जाकर रथ अपना खड़ा कर दिया है तो सब राजा लोग वहां करके अपने अपने रथों में बैठ के सेना लेकर के सब खड़े हो गए अत्यंत बड़ा भारी समान क्षत्रिय होगा अरे ये जहां से अपहरण करेगा तो यहाँ शक्ति नहीं नदी बढ़ जाएगी और सबसे क्षत्रिय देख करके लोभित हो गए और जिसे भगवान का रथ खड़ा था गणेश जी धीरे धीरे और उधर की ओर बढ़ी भगवान ने देखा कि ये हमारे पाप हमारे रथ के पास आ गए हैं तो तत्काल उनका हाथ पकड़ के और अपने रथ में बैठा करके और भगवान बोलिए श्री कृष्ण अल्लाह मत बिहारी ले गया तो चारों से क्षत्रियों में घेर लिया ये दोनों जगह वहां वर्षा होने लगी शत्रुओं की सेना से बाहर अस्त्र शस्त्र से सेना को अच्छा देख करके रुक्मिणी भयभीत हुई वह जो राधा कृष्ण भगवान की ओर देख संघाते और विमुखा संघ जरासंधा को बड़े बड़े क्षत्रिय विमुख होकर के प्राण की रक्षा के लिए भाग गए और शिष्टकाल का मुख शुष्क बदल फ्रांस की राजधानी की चारों तो पहाड़ थे और फिर शस्त्रों का घिरा था और फिर जल चारों भरा हुआ था फिर अग्नि फिर वायु फिर लोग के पास तो उसकी राजधानी में पहुंचना ही करना और जाकर के भगवान ने अपनी गदा से तो पहाड़ों को तोड़ दिया बाणों से शस्त्र के घेरे को तोड़ दिया चक्र से अग्नि को समाप्त किया वायु से जलम वायु चश्मा असना सुरपाषाण गजरा प्राकारण और सब प्रतिबंधों को हटा करके भगवान ने अपना वो संत संत पांच जन्म शब्द को तो पंचमुख का नाम का वहां असुर हो पंचमुख मूल नाम जला उसके पांच मुख थे उसका नाम था मूल नाम का राक्षस और त्रिशूल लेकर के भगवान की ओर गया भगवान ने बाणों से उसके पांच मुख भर दिए वो भी भगवान की उम्र लगाकर कर भगवान गदाम कृष्णा सुभद्रा सहसरा चक्र हजारों करोड़ों के लिए भगवान ने उसकी गदा की और सुदर्शन चक्र से उसका सरकार की ये श्री कृष्ण भगवान और ताम्र अंतरिक्ष श्रवण सिंह जसु नरस्वाम अरुण ये भव बंदों से चौंक से मार मार कर उसके सारे सेना को गोरव कर दिया तम डरने सत्या हे गरुड़ का सभी शक्ति मारे गरुड़ जी शक्ति के बदले से कोई कंपित नहीं हुई डरे नहीं दुखी नहीं हुई एक त्रिशूल भगवान की बचो हरीश चक्र में जैसे शिव शिवस्थित भगवान ने उसका सिर काट लिया दास के कहाकार सुन लो सिंह का पुत्र भूमा से भाई पृथ्वी माता माता जो है कुंदन लेकर के गरुण का छठ लेकर के बनमाला लेकर के महामणि को लेकर के भगवान के पास आई है प्रार्थना करेंगे हे देव देवेश हे परमात्मा मैं तुमको प्रणाम करती हूँ हे भगवान कम पंकज नाराय कमल मालूमे कमल नेत्राय नमोस्तु हे भगवान भौम से नाम पुत्र ये है भवन का पुत्र है इसका नाम है भगवत ये बहुत कर रहा है आप कृपा करके इसको वरदान दीजिए से अभ्रम रखता पाऊ तो सुन ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने भाई रक्त को अभय दिया और उसमें भगवान ने फिर उसके यहां प्रवेश किया तो भगवान ने भमासुर ने सोलह हजार कन्या लाला करके इकट्ठी करी सत सहस्राधिकम दस सहस्रम ददृशे सोलह सहस्त्र करना कहाँ कहाँ से छाट छाट करके ला रहा था जो उनके साथ उनको किसी मूर्ति में अच्छे मूर्ति में विवाह करेंगे लोग भगवान का दर्शन करते हैं वो कन्या सब मन से भगवान को अपना पति बना लिया भगवान का सब पहुंचा रहे तो सबको जाता वो का तो क्या काम क्या लो तो लालच में बैठा बैठा करके बैठा बैठा करके सबको ज्यादा देंगे और केवल कन्या नहीं कोशाम कथाम प्राणी और उनके खर्चे खाने पीने के लिए और धन संपत्ति भी देंगे तो उसका खजाना हो वजाना रख बढ़िया बढ़िया अल्लाह चार दिन के दान शेष दिन का रंग वैसे चौसठ भाती भगवान के द्वारा रंग हो रही है भगवान वो चुंबल मंडल लेकर के इंद्रलोक में गए और सत्यभामा संपन्न भगवान ने उन लोगों का बोले तुम ये तुम्हारी माता रानी के कुंडल है ये सत्य इंद्र ने भगवान का स्वीकार किया और उस महाराज को दिखाई दिया बातचीत करनी सत्य महाराज तुम्हारा नीचे आकर के बैठ गए भगवान ने चलो चलने में जल गए कल वर्ष के लिए चलो भगवान ने कहे तो आप जल्दी में उठा करके नहीं चलो बोला तो देवताओं से जब व्यक्त वहां से कल वर्ष जाने लगा तब देवताओं ने कहा तो यहाँ की संपत्ति कैसे जाएंगे चाहे से आकाश मृत हुए अभी तो अभी तो भगवान की प्रार्थना की थी आपने उस कल वर्ष की लड़ाई हुई और देवताओं से और उनका भगवान का और पावन का सब कल्याण किया काम धर्म को उसकी रक्षा करती थी कल वर्ष भगवान या बात आई गर्व के चौंक से गर्व के कान तक तो उससे तमाम हुई इसलिए तमाकू पूछे गलती पूछ करके गरीब से गोदी हुई स्वामी तो मानना और उसके घर से जो रक्त निकला उससे मोदी हुई देवी से एक मंदिर रुक्मिणी भगवान भगवान बोले गुरु से तो देवी तुमने हमारे साथ विवाह क्या समझ चुकी है हमको तो कोई राजा नहीं बोले अरे आत्मा सर्वसव छत्तीस में मजस्व अभी क्या बोल गया है अपनी अपने सदृश किसी शक्ति को देख लो और जिसके साथ रहकर के आराम से रहो आनंद से रहो लोग प्यारे होते हैं साधु संत हमको अच्छे लगते हैं और उस समय तो हमने उन सुषमावाद का गर्भ नाश करने के लिए तुमको बुलाए थे अपना नगर से बलन स्त्री पुत्र काम छे ना हमें स्त्री पुत्र करने को इच्छा नहीं और ऐसा कहता है कि बड़ी गंभीर मुद्रा में भगवान बैठे रखने में समुदाय के लिए बिल्कुल सचिव चल रहे हैं तो उनको इतना कष्ट हुआ उनके हाथ में से पंखा लग गया मूर्छित होकर गिर गई भगवान ने तत्काल से कलम से करके उनको उठाया उनके बालों को संभाला उनका मुख्य पूछा और भगवान बोले गर्भवी मान